स्नो वाइट और सात पौने एक दफा का जिक्र है बहुत वक्त पहले की बात है एक बादशाह और मलिका दूर एक जमीन पर हुक्मरानी करते थे मलिका बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली थी और सल्तनत के तमाम लोग उस पर रश करते थे मलिका की जिंदगी की वाहिद उदासी ये थी कि उसे बच्चे की सख्त ख्वाहिश थी जबकि उसका कोई बच्चा ना था सर्दियों के एक दिन मलिका खिड़की के पास बैठी थी और ऊनी कपड़े सी रही थी अचानक एक खूबसूरत बर्फानी परिंदा खिड़की के पास आ बैठा उसने मलिका को चौंका दिया परिंदे ने मलिका की तवज्जो हटाई और ऐसे में इसकी उंगली में सुई लगने से जख्म हो गया खून का एक कतरा खिड़की से बाहर पड़ी हुई बर्फ पर गिरा जैसे ही उसने खिड़की से बाहर बर्फ पर खून गिरते हुए देखा तो वो बच्चा नुमा शक्ल में बदल गया वो दंग रह गई और उसने खुदा से कहा ए बर्फानी खुदा मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी होती जो बर्फ जैसी सफ़ेद होती होंठ खून जैसे सुर्ख और बाल गहरे स्याह होते इसके बाद जल्द ही मलिका हामला हो गई और उसी वक्त बीमार भी पड़ गई बहुत से तबीबों ने उसका इलाज करने की कोशिश की पर वो शिफायाब ना हो सकी ओ मेरी प्यारी फिक्र मत करो सब जल्द ठीक हो जाएगा उम्मीद मत खोना खुदा पर यकीन रखो हमारा बच्चे का ख्वाब जल्द पूरा होने वाला है हाँ मेरे महबूब मुझे बेहतरीन की उम्मीद है बर्फानी खुदा ने हम पर रहम किया है कुछ गलत नहीं हो सकता फिर बहार अपने जोबन पर आ गई हर जगह फूल खिलने लगे वो जैसे आने वाले बच्चे का इस्तकबाल कर रहे थे दिन जू जू नजदीक आते गए मलिका ज्यादा बीमार रहने लगी वो एक रोशन सुबह थी सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे सारी बर्फ आज ही पिघला देगा मलिका के यहाँ एक प्यारी बच्ची पैदा हुई जिसकी जिल्द बर्फ जैसी सफेद होंठ खून जैसे सुर्ख और बाल काले स्याह थे मेरी मलिका आपने मुझे सबसे कीमती तोहफा दिया है बताइए आपको क्या चाहिए मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा शुक्रिया महबूब मगर अब मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपनी छोटी मुन्नी के साथ वक्त बिता पाऊंगी ओह प्यारी <laughs> बर्फ जैसी सफेद हो मैं तुम्हारा नाम स्नो वाइट रखती हूँ मुझसे वादा करो बादशाह सलामत आप हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखोगे और वादा करो कि आप फिर से शादी कर लोगे और मेरे बिना जिंदगी में कभी उदास नहीं होंगे मैं हमेशा इसका हर कीमत पर ख्याल रखूंगा मेरी प्यारी मत रो मेरे बादशाह अलविदा मेरे प्यारे अलविदा ओ मेरी महबूब मुझे अकेला मत छोड़ो कुछ साल तक बादशाह अपनी मलका की बेवक्त मौत पर बहुत उदास रहा उसने खुद से स्नो वाइट की देखभाल की और ज्यादा वक्त वो सल्तनत के उमूर संभालने में मसरूफ रहता था उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी को एक प्यार करने वाली माँ चाहिए जो उसकी परवरिश कर सके सो उसने फिर से शादी करने का फैसला कर लिया नई मालिका बहुत हसीन थी लेकिन इससे ज्यादा वो जिद्दी थी और एक जालिम औरत थी इसने काला जादू पड़ा हुआ था जिससे वो बादशाह को काबू करके रखती थी इसके पास एक जादुई आईना भी था जो पेशन गोई करता था और सच बोलता था जब कभी भी वो कुछ जानना चाहती थी मेरे प्यारे आईने और दीवार पे लगे आईने दुनिया में सबसे गोरा कौन है ओ मेरी मलिका आप सबसे गोरी हैं। ओ सच्ची बहुत शुक्रिया तुम बहुत कमाल हो वक्त गुजरने के साथ साथ स्नो वाइट पहले से भी ज्यादा हसीन और गोरी होती गई वो तमाम सल्तनतों की सबसे खूबसूरत लड़की थी सुतली माँ उसके हुस्न से हसद करने लगी ए आईने ए दीवार पर लगी आईने दुनिया में सबसे गोरा कौन है ओ मेरी मलिका आप गोरी और खूबसूरत हैं ये सच है लेकिन स्नो वाइट आपसे भी ज्यादा गोरी है हो तुमने इस तरह बात करने की जरूरत कैसे की तुम बेहुदा हो माजरत मैं सिर्फ सच बोल सकता हूँ मेरी खातून मलिका तैश में आ गई और उसने अपने शिकारी आदमी को बुलाया उस स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे मार डालो और सबूत के तौर पर मुझे इसका दिल ला कर दो जी मेरी खातून मलिका ने स्नो वाइट को जंगल में जाने को कहा और वहाँ से वो कुछ जादुई फूल लेकर आए जो उसे इस दुनिया में मजीद हसीन बना देंगे बेचारा शिकारी आदमी स्नो वाइट को जंगल में ले गया मगर उसने इस लड़की को मारने के लिए खुद को बेबस पाया ओ हसीन शहजादी तुम्हारी सुतेली माँ ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया है लेकिन मैं एक खूबसूरत और शफीक रूह को नहीं मार सकता यहाँ से जितना दूर हो सकता है भाग जाओ और महल कभी वापस न लौटना इंसान अगर तुम मुझे नहीं मारते तो मेरी माँ तुम्हें सजा देगी मैं उसे किसी तरह बरत लूंगा पर अब तुम जाओ स्नो वाइट जितना तेज भाग सकती थी वो भागी शिकारी आदमी ने एक जंगली खंजीर का शिकार किया और उसका दिल मलिका को पेश कर दिया अब मैं सबसे ज्यादा गोरी हूँ स्नो वाइट बड़े काले जंगल में तनहा थी और उसे नहीं मालूम था कि वो क्या करे और कहाँ जाए सब दरख्त ऐसा लग रहा था कि आपस में सरगोशी कर रहे हैं स्नो वाइट डरने लगी और डरते हुए भागने लगी वो नुकीले पत्थरों और कांटों पर दौड़ती और जो ही शाम ढलने लगी कुछ छोटे परिंदे उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और उसका दुपट्टा खींचने लगे ऐसा लगा कि उसे कुछ दिखाना चाहते हैं उसने परिंदों का पीछा करना शुरू कर दिया अचानक उसने एक छोटा सा अजीब घर देखा और वो परिंदों के साथ उसके अंदर चली गई पनाह लेने के लिए घर के अंदर हर चीज छोटी मगर साफ सुथरी थी वहाँ एक छोटा मेज था जिस पर साफ सफेद कपड़ा सात थालियाँ पड़ी हुई थी जिनमें खाना था दीवार के साथ सात छोटे बिस्तर लिहाफों से ढके हुए एक तरतीब से लगे हुए थे स्नो वाइट इतनी भूखी थी कि उसने हर थाली में से कुछ सब्जियां और थोड़ी रोटी खाई और हर छोटे प्याले में से उसने थोड़ा सा दूध पिया वो जंगल में फिर फिर के इतनी थक चुकी थी सो वो एक छोटे से बिस्तर पर लेटकर सो गई और गहरी नींद में चली गई अंधेरा होने के बाद घर के मालिक सात पौने घर वापस लौटे वो पहाड़ों में सोने की कानकनी करते थे परिंदों ने स्नो वाइट को जगाने की बहुत कोशिश की पर वो गहरी नींद में थी जो ही वो घर लौटे उन्होंने देखा कि वहां कोई आया हुआ था ओ मेरी कुर्सी पे कौन बैठता रहा है मेरी थाली में से कौन खाता रहा है ये मेरी रोटी कौन खाता रहा है ये मेरी सब्जी कौन खाता रहा है ये मेरा कांटा किसने इस्तेमाल किया है मेरे प्याले में से कौन पीता रहा है मगर सातवें वाले ने अपने बिस्तर पर एक खूबरू लड़की को सोता हुआ पाया कोई मेरे बिस्तर पे सोता रहा है सातों बौने बिस्तर की तरफ भागते हुए आए ओ खुदा ये लड़की कितनी खूबसूरत है इसे सोने दो शोर मत करो सातों पौने बिस्तर की तरफ भागते हुए आए वो सब उसके बिस्तर के गिर्द गहरी नींद सो गए अगली सुबह स्नो वाइट जागी और जब उसने सात पौने देखे वो डर गई हाँ। उसकी चीखों पुकार सुनकर बोने जाग गए डरो मत डरो मत हम बोने हैं तुम हमारे घर में हो तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम स्नो वाइट है तुम्हें तो हमारे घर तक आने का रास्ता कैसे मिला स्नो वाइट ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई बोने कुछ देर तक आपस में बात करते रहे और फिर उन्होंने कहा अगर तुम हमारे लिए हमारे घर की देखभाल करो और खाना पकाओ बिस्तर तैयार करो धुलाई सीना और बुनना और सब कुछ साफ सुथरा रखो फिर तुम हमारे साथ रह सकती हो और तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहती हो जी पूरे दिल के साथ अब स्नो वाइट बोनो के साथ खुशी खुशी रहने लगी हर सुबह बोने पहाड़ों पर सोना तलाश करने चले जाते और शाम को जब वो वापस घर लौटते तो स्नो वाइट ने उनका खाना तैयार कर लिया होता और उनके घर को साफ सुथरा कर दिया होता दिन में लड़की अकेली होती सिवाय उन नन्हे परिंदों और जंगल के जानवरों के जिनके साथ वो अक्सर खेलती रहती थी मेरे प्यारे आईने और दीवार पे लगे आईने दुनिया में सबसे गोरा कौन है आप मेरी मलिका बहुत गोरी है ये सच है मगर स्नो वाइट जो पहाड़ों के पार सात पोलों के साथ है आपसे हजार गुना ज्यादा गोरी है नहीं वो सफेद अभी भी जिंदा है शिकारी बंदे ने मुझे बेवकूफ बनाया मैं इसे बाद में सबक सिखाऊंगी पर अभी स्नो वाइट को मारना है मगर कैसे कैसे बताओ मुझे कैसे उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में आकर आईना तोड़ डाला है मलिका ने बार बार सोचा वो स्नो वाइट से कैसे छुटकारा हासिल करे बिलाखिर उसने कुछ सोच ही लिया वो अपने सबसे खुफिया कमरे में गई जहाँ किसी और को दाखिले की इजाज़त नहीं थी वहाँ उसने जहर आलू सेब तैयार किया वो सेब इतनी फनकारी से बना था कि जहरीला होने के बावजूद वो बाहर से ताज़ा और खूबसूरत दिखाई देता था फिर अपने जादू के साथ उसने खुद को एक गरीब बुढ़िया का फेस दे दिया वो पहाड़ों के पार बोनों के घर तक सफर करके गई और दरवाजे पर दस्तक दी स्नो वाइट ने अपना सर खिड़की से बाहर किया आप कौन है बड़ी बी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ दरवाजा खोलो खूबसूरत लड़की मैं बहुत गरीब हूँ मैं तुम्हें कुछ सेब देना चाहती हूँ मुझे मेरे मरते हुए खाविंद के लिए कुछ रोटी दे दो मैं किसी को अंदर आने नहीं दे सकती सात बोनों ने मुझे मना किया है मैं यही ठीक हूँ मैं तुम्हें इन ताज़ा और मज़ेदार सेबों में से एक देती हूँ रोटी के एक टुकड़े के बदले प्यारी जब स्नो वाइट ने वो खूबसूरत और चमकदार सेब देखे तो वो उन्हें लिए बगैर न रह सकी वो बावर्ची खाने में गई और सात मानों के लिए बनी हुई खुराक में से ताज़ा रोटी का एक बड़ा टुकड़ा ले आई उसने ये उस बुढ़िया को दिया और बोनों के खाने के बदले सेब ले लिए अभी उसने सेब को चखा ही था कि वो जमीन पर गिर गई और मर गई बुरी मलका ने अपना असली रूप जाहिर कर दिया बर्फ जैसी सफेद खून जैसी सुर्ख और आबनूस की लकड़ी की जैसी काली वो सात बोने कभी भी तुम्हें जगा नहीं पाएंगे वो फौरी तौर पर वापस महल पहुंची और टूटे हुए आईने के सामने खड़ी हो गई आईने ओ आईने दीवार पर लगे आईने जमीन पर सबसे गोरा कौन है आईने ने बिलाखिर वही जवाब दिया जिसकी उसे तमन्ना थी आप मेरी मलिका आप सबसे गोरी हैं जब बॉनी शाम को घर लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर गिरा हुआ पाया वो सांस नहीं ले रही थी वो बेचारी मर चुकी उन्होंने उसे उठाया और बहुत प्यार से देखा उन्होंने उससे बात की उसे हिलाया और उस पर रोए मगर कुछ फायदा ना हुआ महबूब बच्ची मर चुकी थी और वो मुर्दा ही रही उन्होंने उसे तिनकों के बिस्तर पर लेटाया और साथ उसके पास बैठकर तीन दिन तक रोते रहे मातम करते रहे वो उसको दफ... वो उसको दफन करने ही लगे थे कि वो एक जिंदा इंसान की तरह ताजा दिखाई देने लगी अपने खूबसूरत लाल गालों के साथ हम इसे काली जमीन में नहीं दफन कर सकते इसे सफेद उजला रहना होगा बेदाग जैसे ये है उन्होंने एक शीशे का शफाफ ताबूत तैयार किया ताकि वो हर रुख से दिखाई दे सके इसे उसके अंदर रखा और सुनहरी हरूफ से इस पर लिखा यहाँ शहजादी स्नो वाइट करती है फिर उन्होंने ताबूत को बाहर पहाड़ की बर्फ पर रख दिया परिंदों और जानवरों ने आकर स्नो वाइट का मातम किया उसी वक्त एक शहजादा शिकार करने के लिए उस पहाड़ में दाखिल हुआ उसने शीशे के ताबूत के गिर्द बोनों और जानवरों का रश देखा शहजादा हैरान हुआ कि ताबूत में ऐसा क्या है कि इतने प्यारे जानवरों को अपनी तरफ मुतवजो किए हुए है शहजादा नज़दीक गया उसने वो पढ़ा जो सुनहरी हरूफ से लिखा गया था उसने सोचा कि ये वही लड़की है जो उसने हमेशा ख्वाबों में देखी थी तब उसने उसके पास मौजूद बौनों को देखा मुझे ये ताबूत दे दो मैं इस हसीन लड़की के बदले तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ हम इसे पूरी दुनिया के सोने के अवस भी नहीं फरोख्त कर सकते मेहरबानी करके इसे मुझे दे दो मैं इसे देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मुझे इसे लेकर जाने की इजाज़त न दी क्या तुम पागल हो इस मुर्दा बदन का क्या करोगे मैं इसके एजाज में अपने महल के पास एक यादगार तामीर करवाऊंगा ताकि इसकी रूह को सुकून मिल सके नेक पौनों को उस पर तरसाया और उसकी बात उन्होंने मान ली शहजादे ने अपने नौकरों से ताबूत कंधों पर उठवाया तभी ऐसा हुआ कि उनमें से एक ने ठोकर खाई और लड़खड़ाया तो शहजादी के मुंह से जहरीले सेब का टुकड़ा निकल गया शहजादा भागा और ताबूत को पकड़ा इसने इसे एक दरख्त के नीचे रखा और शहजादी को घूरता रहा वो इतनी ही हसीन लग रही थी जैसी कि वो जिंदा होकर थी शहजादे ने उसके माथे पर चूमा जैसे ही उसने स्नो वाइट को चूमा उसने अपनी आंखें खोल दी स्नो वाइट उठकर बैठ गई और फिर से जिंदा हो गई ए खुदा मैं कहाँ हूँ तुम मेरे साथ हो मैं शहजादा हूँ और शहजादे ने उसे सारा वाक़ सुनाया कि उसे क्या हुआ था ओह मेरे खुदाया तुमने मुझे मरने के बाद भी रखने का फैसला किया मगर क्यों तुम मेरे ख्वाबों में आने वाली वाहिद लड़की हो मैं पूरी दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ चलो मेरे साथ महल चलो क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी मलिका बनोगी जी हाँ मेरे खूबसूरत शहजादे मगर मैं अपने वालिद को पहले देखना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी में उनकी दुआ शामिल हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे अबू कहीं गुम हो गए और वो बहुत अरसे से वापस सल्तनत नहीं आए ये मेरी सुतेली माँ की चाल होगी मेहरबानी करके कुछ करो ताकि हम उन्हें ढूंढ सकें ठीक है हम महल चलते हैं और उन्हें ढूंढते हैं शहजादे ने उसके खोए हुए वालिद की तलाश करने का फैसला किया उसने उस बुरी मलिका के खिलाफ शहजादी की सल्तनत फतह कर ली महल में उन्होंने मलिका का खुफिया कमरा दरियाफ्त किया और वहाँ स्नो वाइट के वालिद को खुफिया कैद में पाया फिर उन्होंने उसे आज़ाद किया दूसरी तरफ जब मलिका ने बादशाह को कैद से आज़ाद देखा तो बादशाह और दूसरों के गजब से बचकर वो सल्तनत छोड़कर भाग गई और फिर कभी दोबारा न देखी गई बादशाह ने अपने महल के दरबार में बेटी की शादी का ऐलान किया स्नो वाइट की शादी बहुत शान और धूमधाम से हुई इसके बाद सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे